सज्जनों मातृशक्ति ईश्वर की महती कृपा से ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य से हमने उत्तम कार्यों का संपादन किया इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते आप अपनी सज्जा तैयारी कीजिए जो जो प्रशिक्षण दिया जाता है पाठ पढ़ाए जाते हैं उनको ध्यान से सुनना उनको लिखना उनको बार बार दोहराना फिर दूसरों को सुनाना उसके पश्चात व्यवहार में देखना कि हम उसको कितना कर पा रहे हैं इस प्रकार से आप तैयारी सज्जा कीजिए कोई भी कार्य परिश्रम से अभ्यास से व्यक्ति को करना आता है आप ये विचारते होंगे कि इतने लोगों में कैसे खड़े होके बोले पहले पहले व्यक्ति डरता है प्राय इसमें कुछ दोष है आंतरिक दोष है और बाहर के भी दोष हैं आंतरिक दोषों को जानना फिर उनको दूर करना ये व्यक्ति का काम है एक आंतरिक दोष है कि लोग मुझे क्या कहेंगे एक व्यक्ति सबके सामने खड़ा होकर जब बोलने की बात सोचता है तो मानसिक स्तर पर एक बात आती है कि लोग मुझे पता नहीं क्या कहेंगे और वो प्रत्येक व्यक्ति के मुंह की ओर देखने लग जाता है अथवा बैठा बैठा सोचने लग जाता है तो परिणाम क्या निकलता है एक तो जितने लोग 20, 30, 50 सामने बैठे हैं या जो आने वाले हैं समय पर जिनके सामने खड़ा होना है उन्हीं की ओर व्यक्ति लग जाता है विविध प्रकार के चेहरे दिखते हैं उसको और कुछ ऐसा भी डर रहता है कि उस व्यक्ति के मेरे विचार नहीं मिलते कभी ऐसा न हो वो सामने बैठा बैठा ये हूं सोचे ये बोलने खड़ा हो गए आता जाता कुछ नहीं ऐसा मन में रहता है बड़ी अवस्था का व्यक्ति हो और वो ऊट हाट करके बोलने लगे तो उस बूढ़े व्यक्ति को या बूढ़िया माता जी को मन में एक विचार आके घेरेगा देखो ये बूढ़िया सत्तर वर्ष की अब ये भाषण देने खड़ी हुई है उसको वो विचार घेरेगा आकर के ये मानसिक दोष मानसिक निर्बलताएं हैं फिर एक निर्बलता और सुनो हम बोलते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं अध्यापक आचार्य पढ़ाते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा बोलते अच्छा वो जो बोलने वाला खड़ा होकर बोलेगा वो तो ऐसा पढ़ा नहीं सकता पर ऐसा बोल भी नहीं सकता कि अशोक जी नींद तो नहीं आ रही तो वो जो बोलने वाला है पहले पहले वो ये सोचता है इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे मैं क्या बोलूं बस सब कुछ भूल जाएगा भाई जिस जब उसके दिमाग में ये बात आती है ना इतने बड़े बड़े ये महात्मा बैठे ये आचार्य बैठे क्या बोलू ये सब जानते हैं वो चुप जो कुछ याद किया था वो भी भूल जाएगा ऐसा होता है या नहीं होता और पसीनम पसीना भी हो सकता है उसमें अब एक इस निर्बलता को हटाने का उपाय सुनिए जो अभी बताई मैंने एक प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है हे विद्यार्थी बालक व बालिका तू जब बोलने लगे तो मन बना मेरे सामने जितने बैठे सारे मूर्ख हैं कुछ नहीं जानते समझ और फिर बोलने लग जाए अच्छा आप करके देखना डर नहीं लगेगा फिर पागलखाने में पागलखाने में जाओ और वहां हजारों पागल बैठे हो ना अरे समझ लेना सारे पागल हैं आपसे कितना अच्छा भाषण दिला दो धराधर बोलते चले जाएंगे <laughs> अब हम ऐसा प्रशिक्षण नहीं देते क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है विप्रिय मिथ्या ज्ञानम अचतुर्रूप प्रतिष्ठम ये मिथ्या ज्ञान है ये पागल थोड़ी है विद्वान है झूठ बोल रहा है झूठ सिखाया गया गलत है सारा पाप लगता है इसमें क्या करना चाहिए बोलने वाला ये देखता है ये पांच दस विद्वान और सामने बैठे पांच दस माताएं पढ़ी लिखी अध्यापिकाएं हैं और दूसरे हैं ये जितने भी पढ़े लिखे बैठे इनको मैं एक बात भी नहीं कहूंगा इनको तो एक अक्षर भी नहीं बताऊंगा मैं मेरा काम ही नहीं है अच्छा आप वहां भोजन खा के बैठ गए खूब खाया पहले वो कढ़ी खाई फिर चावल खाए फिर वो वो थोड़ी सी वो बूंदी आ गई वो खा गई फिर वो कटोरी में जो नंगूर आ गए वो भी खा गए फिर दही आ गया वो भी खा गए <laughs> तो सब खाते गए ढोलक जैसा पेट बन गया और बांटने वाले लोग देख रहे थे वहां अब आया दूसरा वो बर्ग खाने वाला बैठा ना और बांटने वाले भी वही और खाने वाले दस पांच दो बारे आ बैठे और वो ढोलक जैसे पेट वाले बैठे ही थे वहां और कहे बांटो वो कहेगा देखो इनका ढोलक सा तो पेट हो रहा है इनको मैं क्या बांटू अब भले व्यक्ति जो नहीं खा के आए उनको बांट नहीं समझे मेरी बात समझिए ना <laughs> तो <laughs> ये उसका कर्तव्य है नहीं आप बताओ है नहीं भाई जो खाए बैठे हैं उनके लिए क्या बांटना खाए बैठे जो भूखे हैं ना तो जो योग्य है विद्वान है उनको हम सुनाने आए ही नहीं ना वो सुनने आए ये दिमाग बनाओ डरोगे नहीं आप दूसरा अंश और इसका सुनाता हूं वो ये है ये विद्वान महात्मा सन्यासी अच्छे प्रवक्ता मेरी त्रुटि को बताएंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा ये दूसरा अंश है मैं इनके सामने बोलूंगा ही नहीं तो मेरी त्रुटियों का पता कैसे चलेगा त्रुटियों का पता तो विद्वानों के सामने चलता है साधारण लोगों के पास में त्रुटियों का पता ही नहीं चलता वो तो वाह वाह कर देते हैं आप जैसा बोलने वाला देखा ही नहीं आज तक हाँ वो तो ये कहते हैं देखा देते वो था ना लाल बुजुक्कड़े वो वो लाल बुजुर्ग और मधु वाला सुना है याद है एक माता जी थी उसको बेर बांट रहे थे बीच में वो छप्पर का खंभा था बच्चे ने ऐसे हाथ कर लिए बीच में खंभा आ गया उसने बेर ले लिए और वो बच्चा चिल्लाने लगा कि मुंह तक जा नहीं सकता बीच में खंबा आ गया वो लेने का चलाने का उसकी माँ कहने लगी देखो हाय क्या हो गया क्या हो गया बचाओ बचाओ कह रही हो क्या गया तो पता नहीं कैसे क्या हो गया पर लाल बुजुर्ग को बुला के तो लाए कहिए महाराज जी बताओ कोई इलाज बताओ बच्चा रो रहा है कहते इसके हाथ यहां से काट लो दोनों बेर को अपने हाथ में ले लो तो <laughs> निकल आएगा <laughs> तो कहेंगे भले व्यक्ति हाथ काटने की जरूरत क्या है बेर ले लो रात इधर कर दो <laughs> हाथ काटने की क्या जरूरत है अरे तो ये ध्यान देने की बात है वो जो दोष है विद्वान बताएंगे तो सुधार होता चला जाएगा और ऐसे बोलते बोलते सुधार ऐसा हो जाएगा वो कहीं जाकर के भी भूल नहीं करेगा बोलने में सफल हो जाएगा जो लोग विद्वानों में रह के नहीं बोलते और उनसे नहीं पूछते या नहीं समझते वो पचास वर्ष उपदेश देते रहे तब भी उनको सिद्धांत के अनुरूप नहीं बोलना आएगा कभी भी देख लेना लेखकों का भी यही हाल है बोलने वाले का भी यही है जो बचते हैं विद्वानों के बीच में जाके बोलते नहीं उनसे पूछते नहीं उनकी त्रुटियां नहीं आ, सामने नहीं आती तो 80 वर्ष में भी लेखन में प्रवचनों में वैसे के वैसे सिद्धांतों की भूल करते चले जाएंगे उदाहरण दो मैं आपको कैसे वो कहते कि दाने दाने पर मोहर है खाने वाले की दाने दाने पर माहौर ये रखते हैं वो तो बहुत अच्छा बोला आपने तो वो कहने लगा जब बिल्ली आती है रोटी रखी हो कुत्ता आता है या रोटी रखी हो तो आप बिल्ली को हटाते क्यों हैं खाने दिया करो दाने दाने पर माहौर है कहते कि जो खा गई उसी पर मोहर थी उसकी जो नहीं खा पाई उसे मोहर नहीं थी <laughs> एक रोटी उठा ली कि तीन रह गई कहने की सारी उठा ली जाती है नहीं उस एक पर मोर थी <laughs> बुद्धिमान कहेगा अच्छा तो फिर मच्छी मच्छी पे मोर है फिर तो भेड़ भेड़ पे मोर है बकरी बकरी पे मोर है जो खाते ना बकरों को मेंढे को खाते नहीं तो सब पे मोर लगी हुई है तो क्यों रोकते हो गऊ को मत मारो बस उपदेश दे रहे हैं उसको पचास वर्ष हो गए बोलते बोलते भले व्यक्ति ये जो ये जो सिद्धांत बिना सिर पैर का दाने दाने वा, खाने वाले की मोहर है बेतु की बात है और कहते हैं सब कुछ लिख रखा भगवान ने और ये माताएं तो कहती हाँ जी इसके विवाह के लिए ये लड़की लिख रखी <laughs> ये ये कहती है लिख रखी है मेरे कहा तो ढूंढते क्यों हो कन्या और वर को ढूंढने की जरूरत ही लिखे लिखाए अपने आप भी आ जाएंगे और तीन चार लाख दहेज का भी झंझट नहीं होगा क्यों ठीक क्या ना इसको न्याय दर्शन में भी आघात दोष कहते हैं अपनी बात का स्वयं खंडन करते हैं भाई जब लिख ही रखा है तो भाई ढूंढते क्यों ढूंढते हो तो लिख नहीं रखा कहते कि ढूंढ मैं भी लिख रखा था <laughs> कोई ढूंढ मैं भी लिख रखा था कबीर की बात बिना सिर पैर की जाएगी सब कुछ लिख ही रखा था अच्छा लिख यदि लिख रखा था तो सारे पाप भी लिख रखे थे शराब पीने वाले को शराब लिख रखी थी पीने तो फिर चोरी करने वाले को चोरी लिख रखी है किवाड़ बंद मत किया करो लिख रखा मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं जो विद्वानों के पास बैठ के विचार नहीं करते जो विद्वानों के पास में जाके अपने अपने सिद्धांतों को नहीं सुधारते उनमें दोष लिखने में दोष बोलने में दोष जूके तो बने रहते हैं इसलिए प्रवचन देने वाला व्यक्ति ये मन बनाए कि मैं बड़े से बड़े विद्वानों में बोलूंगा जो त्रुटि होगी वो बताएंगे या मैं पूछूंगा इसलिए डर नहीं लगेगा दूसरी और उस दूसरे अंश को सुनिए जो डर लगता है व्यक्ति को इस बात का लगता है कि मुझसे कोई त्रुटि न हो जाएगी ये डर एक डर है जो होता नहीं बताओ अनुभूति आपकी आप भी डर हो गए अभी और कईयों को तो नींद भी आनी मुश्किल हो जाती है रात को और वो और तो घंटी पर उठते हैं पहले उठ जाते घंटी से <laughs> उसको चिंता लग जाती है आज बोलना पड़ेगा आज बोलना पड़ेगा आज बोलना पड़ेगा वो ऐसे सोचता रहता है और मुंह मुरझाया हुआ मुंह लटका हुआ क्या बात है आज बोलना पड़ेगा <laughs> ये और वे देखता कि त्रुटि नहीं हो जाए इसका समाधान सुनो आप देखो बोलने वाले में एक आत्मविश्वास होना चाहिए पूरा विश्वास अपने विषय पर जिस पर वो बोलना चाहता है का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं जो कुछ बोलूंगा वो सत्य ही है बस ये उसका दिमाग बन जाना चाहिए शत प्रतिशत सत्य है जो मैं बोलूंगा आत्मविश्वास आत्मविश्वास होने के पश्चात व्यक्ति नहीं डरता इस कारण से दूसरा सुनिए आत्मविश्वास हो उसकी तैयारी इतनी की जाए इतनी की जाए इतनी की जाए बस पूरा याद प्रकाश वीर जी शास्त्री बोलते थे कभी सुने हो बड़े लोगों को कभी अवसर मिला हो तो वो रेल दुर्घटना मर गए थे वो मैंने उनको अनेक बार प्रवचन देते हुए सुना तो उनको इतना याद होता था इतना कंठस्थ होता था और उनकी शैली क्या थी ऐसे बस ऐसे नहीं करते थे ऐसे नहीं करते थे ऐसे नहीं करते थे प्राय कभी क्या हुआ नहीं तो ऐसे खड़े होते थे और धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ लगातार बोलते जाते थे और भूलते ही थे पर आए और एकदम लोगों को प्रभावित कर देते ऐसी शब्दावली बनाते थे खूब तैयार करके लाते थे तो उनकी शैली थी तो जो याद कर लेता है व्यक्ति तो वो घबराता नहीं है जो याद नहीं करता वो घबराता है अपने विषय पर जिसको आत्मविश्वास नहीं वो डरता है जिस विषय में बोलना है आत्मविश्वास होना फिर याद करके आना कई लोग बिना याद किए चले जाते हैं बिना याद किए चले जाते हैं और फिर वहां जाके भूल जाते कई बार नए व्यक्ति तो याद किए हुए कोई भूल जाते ऐसा होता है अब रह गई बात भूल की एक और बात रहती है बोलने वाले ने खूब सज्जा तैयारी की है परंतु अल्पज्ञ होने से कोई न कोई भूल हो जाती है उसके लिए क्या करोगे यदि भूल हो भी गई मैं उसको स्वीकार कर लूंगा मनुष्य अल्पज्ञ है यह डर ऐसे निकल जाएगा पहले तो भूल होने की अवस्था मत रहने दो छिद्र मत छोड़ो पक्का याद कर लो यदि हो जाएगी तो भाई इसको स्वीकार कर लेंगे ये भी हो गया अब एक बात और याद रखो मन में यदि हम बोलना नहीं सीखते यदि दूसरे के सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना नहीं सीखते कितनी हानि होती है हम सच्चाई को जानते हुए भी बोल नहीं सकते प्रचार नहीं कर सकते दूसरे को प्रेरणा नहीं कर सकते दूसरे की बात का उत्तर नहीं दे सकते ये सारे दोष आएंगे ये भी जानना चाहिए आप संज्ञा में क्या मांगते हैं ओम वाक अब ये तो मांग करते हो तो पुरुषार्थ करो ये जो लोग प्रचार करते आप अपने मत का तैयारी करते हैं खूब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो प्रशिक्षण दे दे करके दे दे करके उनको इतना अच्छा प्रचारक बना देते हैं वो हजारों लोगों में उन चीजों को फैलाते हैं आपने देखा होगा साहित्य के माध्यम से प्रचार के माध्यम से प्रशिक्षण के माध्यम से पता नहीं कितने साधन उन्होंने अपनाए हुए और आकाशवाणी का अलग साधन है पत्रिकाएं अलग साधन है समाचार पत्र अलग साधन है प्रवचन करने वाले अलग साधन है और वो इतना प्रचार करते हैं वो हजारों क्या लाखों लोगों में करते बालेश्वरी जी का वो है बड़ा केंद्र ज्वालापुर और हरिद्वार के बीच में हमने वहां देखा ऐसे दूर तक धुनी जिनकी जाती है कई किलोमीटर तक ऐसे सुनाई देते हैं जैसे यहां बज रहा हो और उनके जो वहां उपस्थिति होती है पुरुषों की माताओं की वो क्या बताएं लाख की होती हो या पचास हजार की होती हो इतनी लंबी चौड़ी दूर दूर दुनिया भरी हुई होती है इतना प्रबंध करते बड़े साधन होते हैं उनके पास इसलिए आप विद्या का उपार्जन करो लेखन भी सीखो बोलना भी सीखो और प्रचार करना सीखो आप में से दो तीन चार बार जो आ चुके हैं वो ऐसी तैयारी करें माताएं भी ऐसी करें कि वो आठ दस बीस लोगों का शिक्षण शिविर जैसे लगाया और उनको प्रशिक्षण दें उनको सिखाएं फिर जहां बातें उलझती है उनको फिर आकर के पूछे तो प्रचार भी इन बातों से ही होता है अब हमारा प्रकरण था उसको आगे से चलाएंगे आपने सुना था प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण रहा था ये बोलने की भाषा ये प्रवचन में भी काम आएगी लेखन में भी काम आएगी और बातचीत करने में भी काम आएगी अपनी समस्याओं का समाधान होगा और जिज्ञासु की समस्याओं का समाधान होगा आक्षेप करने वाला का उत्तर बनेगा इतनी समस्याओं का समाधान होता है ये जो आप अनुमान का प्रयोग करने सीख लेंगे सीख जाएंगे तो ये सारी समस्याएं आपके सामने आगे खड़ी नहीं होंगी देखिए पांच अवयव न्याय दर्शन के सुने आपने शरीर को हमने अनित्य सिद्ध किया कैसे किया था पांच बात कही थी शरीर अनित्य है ये प्रतिज्ञा है हेतु नहीं नहीं पक्ष है ये क्यों क्योंकि यह उत्पन्न होता है ये हेतु है तीसरा उदाहरण आएगा जो जो चीज उत्पन्न होती है वह वह नाशवान देखी जाती है जैसे घड़ा और कपड़ा ये घड़ा और कपड़ा उदाहरण है उदाहरण कहलाता है जैसे घड़ा और कपड़ा गड़े कपड़े जैसा ये शरीर भी है ये उपनय कहलाता है उपमान उपमा देते हैं ना वैसा ही ये शरीर भी है ये उपनय हो गया अब निष्कर्ष निगमन उपसंहार इसलिए उत्पन्न होने के कारण शरीर अजी हाँ नींद तो नहीं आई है अजी हाँ उत्पन्न होने के कारण शरीर नाशवान है ईश्वर है ये क्या है हाँ जी बोलो जी प्रतिज्ञा हो गई क्योंकि बिना चेतनकर्ता के सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती ये क्या है हेतु जहां जहां बुद्धिपूर्वक कार्यों की उत्पत्ति होती है या बनाए जाते हैं वहां चेतनकर्ता मिलता है जैसे कि भवन घड़ी कार ये भवन घड़ी कार ये उदाहरण है वैसा ही चेतनकर्ता सृष्टि का भी है उपनय इसलिए बिना चेतनकर्ता के सृष्टि की उत्पत्ति न होने से ईश्वर है है निगमन उपसंगार भी कह देते हैं इसको निष्कर्ष अब नास्तिक आया नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है क्या कहता है क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता ये क्या है हेतु है जो जो चीज आंखों से दिखाई देती है उसकी सत्ता होती है जैसे कि ये खंभा और वृक्ष ऐसे ईश्वर दिखाई नहीं देता इसलिए आंख से दिखाई नहीं देने से ईश्वर उसने निषेध कर दिया अब बताओ गलत किया है ठीक किया ना सुनो ना ना कैसे गलत किया इसको बोलने तो थोड़ा इसकी बुद्धि पर जोर पड़ेगा ना बोलो अब इसको याद है अब आप बोलो भाई है जी सिर्फ इसे क्या गलती की है नास्तिक ने नहीं नहीं इनके बच्चे हैं ना ये चलो आप में से कोई बोलेगा पुराने तो कबर बोलना नहीं बोलेंगे अभी हाँ जी अशोक जी आप बोलोगे एक दो बात थी गुलाम मिला के कह दिया हमने वहां अब अशोक जी प्रयत्न तो करे फिर ये बोलने के नियम नहीं आ रहे ये बोलने के नियम नहीं जानते ना इसलिए बोलना नहीं आता बिना नियमों के नियम नहीं आते आपको अच्छा तो दूसरे और कोई दूसरा बोलेगा हां हां हां हाँ। तो उन्होंने जो उसका हेतु गलत बताया हेतु तो उसने ये दिया था क्योंकि आंखों से नहीं दिखता उन्होंने कहा जो आंखों से ही दिखे वही चीज होती है ये नियम नहीं है उसका हेतु कट गया अब आई बात समझ में ऐसे बोला करो उन्होंने हेतु को काटा है हेतु तो दिया था ना कारण उसने कहा था ईश्वर नहीं है ये प्रतिज्ञा थी क्योंकि आंखों से नहीं दिखता ये हेतु था उसने कहा जो आपने हेतु दिया है ईश्वर के खंडन में वो हेतु गलत है आंखों से ही जो चीज दिखती है वही चीज होती है ये नियम नहीं है सुख दुख आंखों से दिखता है क्या सुख या दुख आंखों से दिखता है और दादे का दादा किसी ने आंखों से देखा था हाँ जी दादे का दादा देखा था किसी ने आंखों से ये आधा एक किलो पेट में भोजन पड़ा है दिख रहा क्या <laughs> नहीं दिख रहा ना तो ये जो नास्तिक लोग हैं ये गलत हेतु देकर के गलत उदाहरण देकर के ईश्वर का खंडन किया करते हैं जो दर्शनों की विद्या को जानते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं वो लोग इनकी बात को झट पकड़ देते और ये प्राय ऐसे उदाहरण देते हैं जो गलत होते हैं ये हेतु गलत था ना एक उदाहरण देते हैं कहते हैं ईश्वर नहीं है क्योंकि ये सृष्टि अपने आप बनती है ये हेतु दे के फिर उदाहरण देते जैसे कि घास अपने आप बनती है ये उदाहरण देते घास का उदाहरण देते ही घास और वनस्पति अपने आप बनती है ऐसी सृष्टि पैदा हो जाती है ये उदाहरण गलत है है जी अब सुनना आप ध्यान से उदाहरण वो होता है जिसको दोनों पक्ष मानते हो बताओ क्या समझे आप दो पक्ष बोलने वाले हुए जो आपस में जिनका वाद विवाद होता है वो दोनों जिस उदाहरण को स्वीकार करते हो वो उदाहरण माना जाता है उसने कहा घास अपने आप उत्पन्न होता होता है हमने कहा ये घास को ईश्वर बनाता है हम नहीं मानते ऐसा कि घास अपने आप उत्पन्न होता इससे उसकी बात कट जाती है इसलिए ये बातें अब और सुन लो उसने कहा ईश्वर नहीं है ये प्रतिज्ञा क्योंकि दूध में पानी मिला मिला के बेचने वाले देसी घी के नाम से डालडा और चर्बी मिला के बेचने वाले मालामाल और शुद्ध दूध बेचने वाले कंगाल के कंगाल यदि ईश्वर होता तो उनका गला, गला तो बोझ देता इसलिए ईश्वर नहीं है ये तो रोज की घटना है आज का व्यक्ति तो ईश्वर को छोड़ रहा है क्यों वो झूठ बोलते हैं झूठे मुकदमे लड़ते हैं माला माल और सत्य बोले वो कंगाल अब क्या करेगा वो कचहरी में जाके वहां जाके देखो कोई नहीं गया हो तो आज तो सभी का माथा जाके <laughs> दुखता है सभी चले जाते आजकल तो वहां जाके तो देखो क्या हो रहा है न्यायालयों में नीचे से लेके ऊपर तक वो कोई व्यक्ति धार्मिक होगा तो रोएगा वो क्या करेगा बेचारा किम करो मी अगच्छा मी क्या करूं और कहां चला जाऊं ये अन्याय नीचे से ऊपर अन्याय अन्याय हो रहा है और लोग करोड़पति बन रहे उस अन्याय के चलते चलते और जो सच्चाई बोलता है सच्चाई कहता है वो मारा जाता है उसकी जान निकाल देते हैं नौकरी से बाहर पिटाई उसकी सुनने वाला कोई नहीं गवाह भी नहीं बनेगा उसका कोई गवाह बने तो उसको उसकी भी पिटाई गवाह बने तो उसकी भी पिटाई ये देख करके व्यक्ति कई बार कहता पता नहीं भगवान है या नहीं है आपने योग के विघ्न सुनाए क्या योग के शत्रु योग के वेद में उनमें से एक क्या है संशय क्या है तो तेरह चौदह विघ्न गिनाए ना जो उनमें एक विघ्न शत्रु है उपासना का वह संशय ध्यान अवस्था में जप अवस्था में यदि उसमें यदि संशय उत्पन्न हो जाता है तो ध्यान नहीं कर सकेंगे आप न जप होगा न ध्यान होगा न सत्य बोल सकते न धर्म का आचरण कर सकते पैर लड़खड़ा जाएंगे संशयात्मा भी नश्यती है संशय आत्मा जो हो जाता है उसका विनाश हो जाता है तो मैं आपको सुना रहा हूं अनुमान का प्रकरण अनुमान के प्रकरण में हमको वेद का प्रमाण लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी भी वैज्ञानिक से बात करो किसी मत वाले से भी बात करो जंगली से भी बात करो प्रोफेसर से बात करो सन्यासी से बात करो इनको याद रख लो आपको बात करना आएगा बोलना आएगा और आपकी बात कटेगी नहीं बोलना सीखो तो इन नियमों को आप याद रखिए सोचने में भी ये विचार देखिए ये अनुमान प्रमाण केवल दूसरों को समझाने में काम आता वैसा नहीं है हमारे मन में जो उलझने उत्पन्न होती है वो अनुमान प्रमाण से सुलझा ली जाती ये संदेह पैदा होता है कि ये लोग झूठ बोलने वाले मिलावट करने वाले ये वो संदेह उत्पन्न होता है तो हम इनका समाधान कर लेते हैं तो इस प्रमाण को यहां विराम दे देवे और इससे आगे कौन सा प्रमाण है आगम शब्द प्रमाण है और आगे अवकाश मिलेगा प्रकरण चलेगा तो उस शब्द प्रमाण आगम प्रमाण को उपस्थित करेंगे नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे इसलिए आप अपनी तैयारी करें विचारना सीखें बोलना सीखें पढ़ना सीखे पढ़ाना सीखे तो आपकी उन्नति होगी और अब परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ और दो विचारधाराएं होती व्यक्ति की डरना निराश होना हताश होना ढीला पड़ जाना ये विनाश के कारण है सबके सब, सब। उत्साहित होना निर्भीक हो जाना आगे बढ़ना खूब तपस्या करना ये सफलता के चिन्ह है जो व्यक्ति ये देखता है कि कठिनाई क्या है वो कहता कठिनाई वो मैं उसी से टकराऊंगा कठिनाई है टकराना बहुत अच्छी चीज है अच्छे काम के लिए वही वो देखता मैं उस कठिनाई को ही देखता हूं कौन सी कठिनाई है जो टक्कर लेती है मुझसे और ये कहता जी कौन सी कठिनाई है जी मैं भागू कहां से कौन सी आएगी पहले पहले जो कठिनाई आएगी उसी में मार